साथ पिता पुत्र बीबीसी हिंदी के दिन भर कार्यक्रम में आपका स्वागत है रेडियो के साथ साथ बीबीसी हिंदी डॉट कॉम पर भी आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि अगर देश की भलाई के लिए आंदोलन करना ब्लैकमेल कहलाता है तो जब तक शरीर में जान है वो ऐसे ब्लैकमेल लगातार करते रहेंगे अन्ना हजारे ने ये बयान उन सवालों के जवाब में दिए जो समाज के एक तबके ने उनके आंदोलन और उनके तरीके पर सवाल उठाए थे योग गुरु बाबा रामदेव ने लोकपाल विधेयक के लिए गठित समिति में एक साथ पिता पुत्र शांति भूषण और प्रशांत भूषण के होने पर सवाल उठाए उठ रहे विवादों पर अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल किरण बेदी के साथ दिल्ली में प्रेस क्लब में स्पष्टीकरण दिया इस संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे हमारे सहयोगी अविनाश दत्त सुनिए उनकी ये रिपोर्ट जनता की कमेटी है उसमें जो पांच लोग हैं उसमें प्रारंभ में ही वंशवाद क्यों आ गया तो इस वक्त ये रिश्ते की बात नहीं है ये तो काबिलियत की बात है रामदेव बाबा जी से मैं अभी दो घंटा पहले बात की मैं कहा कि बैठकर रास्ता निकालेंगे लेकिन हम आपस में कोई मतभेद नहीं होना ये आवाजें हैं उन तीन लोगों की जो जंतर मंतर पर जन लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन के आधार स्तंभों में से थे बाबा रामदेव जिनके समर्थक और शिष्य पहले दिन से अन्ना हजारे के आंदोलन में तन मन धन से समर्थन दे रहे थे दूसरी आवाज थी किरण बेदी की जो अन्ना हजारे के साथ साय की तरह पूरे आंदोलन में मौजूद थी तीसरी आवाज थी खुद अन्ना हजारे की अन्ना हजारे आज सुबह से कई सवालों के उत्तर दे रहे हैं उनमें ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल भी है कि बाप बेटे एक साथ समिति में उनकी तरफ से क्यों अन्ना ने बताया कि उन्होंने बाबा से बात कर ली है और उन्हें समझा लिया है दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए अन्ना हजारे ने आगे अन्य मुद्दों पर आंदोलन करते रहने की बात को दोहराया पर आज उन्होंने एक नई महत्वपूर्ण बात कही सरकार के लोग और हमारे लोग जब ड्राम बनाने शुरू कर देंगे तो वो बनते समय वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे देश की जनता ने उसको देखना है सरकार लोग क्या कह रहे हमारे लोग क्या कह रहे छुप कर कोई बात नहीं रहेगी अन्ना की इस बात के लिए अगर सरकार मान गई तो ये एक और बड़ी उपलब्धि अन्ना हजारे के खाते में जाएगी बात अगर सबके सामने हुई तो पारदर्शिता का नया पैमाना तो बनेगा ही पर अन्ना हजारे ने बात बात में एक और बात कही उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि देश के बाकी मुख्यमंत्री भी बिहार के नीतीश कुमार और गुजरात के नरेंद्र मोदी की तरह काम करें जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री है और बिहार के मुख्यमंत्री है इन्होंने अपने राज्यों में जो आदर्श किया है उनका आदर्श हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लेना चाहिए मैं पक्ष और पार्टी की तरफ नहीं देखता हूं इस देश के लिए जो काम करना है तो वो इसी प्रकार का काम करना चाहिए जड़ में जाकर